दीक्षावाश्यम मंत्र का पाठ धन में करें अब थोड़े से आलस्य भी आपका हट जाएगा और हाँ, कई लोग अपना दूर जानबूझ के भी बैठते होंगे तो मुंह भी दिखाई नहीं देते उनकी बात दिखाई ना ईशा पढ़ते हैं सुनते हैं पढ़ाते हैं उसको हम अंतिम रूप से कैसे समझते हैं ये बात विशेष ध्यान देने की है कि जब तक व्यक्ति इन कार्यों को नहीं करता तब तक विद्या का स्वरूप के सामने नहीं आता नहीं आता है आता है यदि आता हो तो अब ये मंत्र कहां है वो उस और लिखा ये संकल्प पाठक ओम श्री द्वितीय वैवस्वते अष्टा कलिका एक शरणवती कोटि अष्टलक्ष नशा हो जाता है ना जो व्यक्ति अंदर कुछ का कुछ कह देता है अजब बात तो समझ भाई कोई कठिन शब्द तो नहीं है ना अजब बोल भी सकते आप इसको सत्वारी श्रृंगार त्रोहस्य इसीलिए तो एक बात छेड़ी आपको पता ही नहीं चला है एक लेखक ने लिखा था कि भाई एक व्यक्ति के पास में घोड़ा था वो कहने लगा भाई तू रख एक महीना में यात्रा के लिए जाता हूं आया लोग तो उन्हें बेच खाया और कहने लगा तो मर गया मर गया तो भाई उसके कम से कम हार्ड खोल तो होंगे चलो अच्छा, दिखाता हूं जहां हार्ड पड़े रहते बड़े बड़े बैल मरते हैं सींग होते हैं तो खोल रहता है ये तेरा घोड़ा जो मरा था कहने लगे ये सीन तो है ये तो नीचे कहते यही तो रोग था जिसे ये मरा आपकी परीक्षा लेनी थी यही रोग था उसमें फैल हो गया यही रोग था जिसे ये मंत्र आपके सामने रखा जिसको आप पढ़ते हैं ये वही है अब भी नहीं आया किसको पढ़ते हैं विद्या को पढ़ने के लिए प्यार तो ये थोड़ा तो आइए अलग बात है हम तो हम तो इस प्रकरण से आपत व्याख्या कर रहे हैं इसकी व्याख्या अनेक हो सकती है पर हमारा जो प्रकरण है उससे ही संबद्ध व्याख्या होगी ये शब्द है ये शब्द है चतवाई श्रृंगार अब जो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं उनको तो आएगा समझ में नाम आख्यात उत्सर्ग निपात कितने हो गए चतवारी श्रृंगा चार सिंह नाम देवदत्त नाम गच्छति दो नहीं समझ बात आगछति अत्र आगछति कितने हो गए नींद उतार लो अपनी <laughs> कितने हो गए नाम आख्यात उपसर्ग निपात है चतवारी सिंगा क्या सिंह और उदाहरण मैंने दे दिया फिर तो दोबारा देव दत्त है है हाँ हाँ जी एक अतरे हाँ जी और आ, और आ गच्छति है अच्छा गच्छति में आख्यात है प्यार हो गए नहीं हो जो व्यवहार में नाम लेते हैं उसको नाम कहते हैं ये देवदत्त है हिंदी में कहेंगे ये देवदत्त है जी जाता है तो दो आ गए देवदत्त और देवदत्त नाम हो गया और जाता है ये आख्यात हो गया और वहां ये निपात हो गया और आता है आ लगा दो तो ये उपसर्ग हो गया तो चतवारी श्रृंगा और द्रवश्य पादा तीन पैर हैं तीन पैर कौन से भविष्य और वर्तमान काल कितने हो गए और पीछे बैठे हुए कुछ सुन रहे हैं कि आंख तो दिखती नहीं <laughs> मुंह दिखाई देता है और अब पहचान में नहीं आती नाम लेके टोके तो कैसे टोके तो ये क्या है तीन काल है और दो शर है ये अनित्य है और नित्य भी है आगे चलो सप्त अष्टासु से सात विभक्तियां हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सात विभक्तियां इसके हाथ हैं और त्रिधाबद्ध छाती में कंठ में धर्म बंधा हुआ रहता ओ ऐसे बोलो यहां से निकलेगा फिर यहां आएगा यहां टकराएगा तीन से कैसे ये बंधा हुआ है और ये बड़ा भारी वर्षा करने वाला है दृश्य वर्षा जो करो उसका नाम दृश्य होता है रो रोएगी बहुत जोर से बोलता है और कहां रहता है मृत्या मावेश मनुष्य में घुसा हुआ अब तो आ गया समझ में मनुष्य मनुष्य में घुसा हुआ है मृत्या मावेश है मृत्य मनुष्य को कैसे वेद में <laughs> बताओ समझ में आया नहीं आया है जी ये नहीं आया <laughs> लो जाए कितनी बार फिर याद करना पड़ेगा भले ही हमारा समय दिखते रह जाए एक इसके लिए एक रोचक कथा सुनाई एक व्यक्ति की वो एक व्यक्ति था हरियाणा का वो भैंस जो है गर्मी के दिनों में बाहर ले जाते हैं दोपहर को बारह बजे ले जाते हैं कि भैंस बारह बजे के पीछे गर्मी में नहीं रह पाती ये वहां के लोगों का अपना रिवाज वो अपने बेटे को कहने लगा भैंस वाला बेटा दोपहर को बारह बजे ले आया करो वो कभी तो दस बजे जाके छोड़ दे कभी नौ बजे छोड़ दे कभी एक बजे ले जाए कभी दो बजे ले जाए तो कहता तुझे मैं कहता हूं तू बारह बजे ले आया कर वो कहने लगे पिताजी मुझे बारह बजे का पता ही नहीं चलता बारह कब बजते मुझे कोई पता नहीं चलता एक दिन ऐसा हुआ सारी भैंस खुल गई चोर ले गया वैसे कोई और उस दिन उसके पिताजी ने पूछा बेटा क्या है पिता सारी भैंसें खुई गई है कितने बजे खुई कब बारह बजे खुई तो वो कहेगा चलो भैंस जाओ तो जाओ हमारे बेटे को बारह बजे का पता चल हमारा समय तो अधिक जाएगा फिर आपको सिखा के छोड़ा तो उतर रही अभी थोड़ी थोड़ी तो चतवारी श्रृंगा चार इस शब्द के सींग हैं संस्कृत भाषा में चार प्रकार के शब्द हैं नाम को बताने वाले एक और क्रिया को बताने वाले दो और जो विशेषण रूप में आते हैं सुपुत्र आगछति प्रवर्तते पर निर और अत्र तत्र ये निपा हो गए और द्रोवश्य पादा तीन कौन से पाद थे भूत भविष्य वर्तमान और द्वेश विषय शब्द हम जो बोलते हैं इसको अनित्य कहते हैं और जिसका प्रयोग प्रत्येक सृष्टि के आदि में ईश्वर करता है वेदों आदि शब्दों को उनको नित्य कह देते हैं पर याद रखना शब्द स्वरूप से नित्य नहीं है प्रवाह से नित्य एक बार बीच मारी या नहीं आई फिर राजो फिर से सुनिए हम जो शब्द बोलते हैं हमारा और है वहां वालों का कुछ और है वो नष्ट हो जाता है थोड़े दिनों में और आ जाता है मनुष्यों के शब्द बदलते रहते हैं परंतु ईश्वर के शब्द प्रत्येक सृष्टि में वे के वे रहते हैं पर वो नए शब्द होते हैं अब क्या समझ में आया नहीं आया जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबका प्रलय हो जाता है शब्द भी प्रलय शब्द भी खत्म जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो शब्द पैदा होते उन्हीं शब्दों को जो पहले जैसे शब्द जो शब्द पहले थे वही शब्द ले लेके परमात्मा वेद ज्ञान हमको देता है इसलिए ईश्वर के ज्ञान में तो नित्यता है अर्थात ईश्वर का ज्ञान नित्य है उसमें कोई अंतर नहीं आता पर शब्द अनित्य है याद रखिए जहां पर ये वाक्य आया है कि शब्द नित्य अनित्य दोनों आए भावाधिकार ने कहा वहां नित्य कहने का तात्पर्य है वेदों के शब्द जो है वो प्रवाह से नित्य है स्वरूप से नित्य नहीं है कह तो रहा हूं आया समझ में प्रत्येक सृष्टि में ईश्वर उसी प्रकार के शब्दों से ज्ञान देता है बदलता नहीं है ईश्वर का ज्ञान नित्य है और जिन शब्दों से ज्ञान देता है वो अनित्य है पर प्रत्येक सृष्टि में वही शब्द आते हैं तो उनको प्रवाह रूप से नित्य कहा जाता है स्वरूप से नित्य नहीं तो कहां पहुंच गए थे हम द्वेष से दोष सप्तहस्यापस्य राम है रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई आगे रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामा रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो कितने हो गए ये हाथ हैं ये सात हाथ हैं अब तो आ गए समझ में और हो ओ जब यहां से बोलते हैं तो छाती में आता है पहले आप देखो आता नहीं आता छाती में नहीं आए तो कंठ में कहा आएगा तो छाती कंठ और यह तीन जगह से बंधा हुआ रहता है शब्द और ये वृषभ है सुख को देने वाला है जो व्यक्ति वेदों को जानता है वेद विद्या को जानता है शब्द के स्वरूप को समझता है वो ईश्वर को समझता है इसलिए वेद को भी ब्रह्म कहते हैं वेद ब्रह्म उसको अपर ब्रह्म बोल देते हैं और ईश्वर को पर ब्रह्म बोलते हैं जो व्यक्ति वेदों के शब्दों को ठीक जानता है ऋषियों के बनाए ग्रंथों को शब्दों को ठीक समझता है वही व्यक्ति ईश्वर को ठीक समझता है भूगोल में जितने संप्रदाय वे जब वेदों के शब्दों को नहीं समझते तो ईश्वर को भी नहीं समझते चत्वारिष्वेङ्गा ध्रुवस्य पा को समझाने के लिए ये बात कही इसकी व्याख्या और भी हो सकती है और भी हो सकती है वो प्रकट के अनुसार ये एक व्याख्या शब्द को लेकर के है और ये प्रकरण है आपके सामने सर्वण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार ऋषियों ने अपने ग्रंथों में इनका बार बार वर्णन किया है कि जो व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल जो व्यक्ति चारों क्षेत्रों में परिश्रम करता है वो वस्तुतः विद्वान होता है उपनिषद में एक बात आई कि कितने लोगों को तो ये ब्रह्म विद्या सुनने को ही नहीं मिलती ये प्रकरण आया विशुद्ध रूप में लोगों को विद्या सुनने को ही नहीं मिलती आज कुछ विद्या पढ़ाई जाती है और कुछ अविद्या पढ़ाई जाती है ये जितने संप्रदाय के लोग हैं ना ये भगवान के विषय में और धर्म के विषय में जो पढ़ाते हैं वो अविद्या पढ़ाई जाती है ये भौतिक वैज्ञानिक है ये उस भौतिक विज्ञान के साथ बहुत अधिक अविद्या पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को समझ में आई नहीं आई बात है जी तो कितने लोगों को तो सुनने पढ़ने को ये ब्रह्म विद्या ही नहीं मिलती विद्या ही नहीं मिलती ये कहा उन्होंने कहा कि देखो सुनने वालों को मिल भी जाती है तो उनमें से जो सुनते हैं वो समझने वाले उनमें से एकाध कोई होता है आप मुझे कितने समझ गए परमात्मा को जी बताओ है हाँ जी भगवान को मतलब जाया नहीं जाया तो जितना सुनने वाले लोग हैं पढ़ाने वाले लोग हैं उनमें ईश्वर को साक्षात्कार रूप में जानने वाला कोई पहला ही होता है ये उसने बताया कितने को तो सुनने के लिए नहीं मिलती और कितने को सुनने के लिए मिलती है परंतु मत जानने वाला कोई बिरला ही होता है और ऋषि ने एक बात कही इसका जानने वाला बताने वाला कठिन और इसका प्राप्त करने वाला भी कठिन पर इस बात को मत भूलना जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है उसको दूसरा भी ऐसा मत मानना कि हमारे ऐसी चीज पल्ले पड़ गई हमको तो जान ही नहीं सकते हम उन्हीं में से हैं जो नहीं जान सकते ऐसा ऐसा मत लगा लेना से क्योंकि कई लोग तो यही सोचते कि हम उन्हीं में से हैं जो नहीं जान पाते ऐसी बात नहीं है कोई भी व्यक्ति परिश्रम करने वाला उस चीज को उपलब्ध करता है इसलिए ऋषि ने कहा पुरुषार्थी के लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है पुरुषार्थ इतना बलवान है ये भाग्य को भी उखाड़ के फेंक देगा भाग्य बलवान है और पुरुषार्थ ऋषि ने क्या लिखा है तो परिश्रम करने पर आप सब कुछ कर सकते हैं तो पहले सुनने की बात आती है याद रखना ये बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऋषि ने कहा कि आत्मा मन के साथ मन कान के साथ कान शब्दार्थ संबंध के साथ जुड़ा रहना चाहिए आप में से कितने तो सो जाते होंगे और कितने मुंगते <laughs> होंगे और कितने घर की बात सोचते होंगे और कितने ये सोचते हैं पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा ये सुनते सुनते यही इतने दिन हो गए ये और उंगलियों पर दिन गिरने लग जाते हैं कभी कभी आज सात दिन हो गए शायद एक में एक विषय छेड़ देते हैं जो पढ़ाया जा रहे वहां विषय है ना वो हाथ से निकल जाता फिर उससे कहते हैं कि क्या सुना उसने कहा कि कुछ याद नहीं है देखो एक का काम है सारे देख रहे हैं <laughs> अब ये आदत है ये तो उदाहरण बड़ा अच्छा दिया आपने इतना अच्छा उदाहरण है इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है वो एक का काम है सारे इसको देख रहे हैं जैसे पंद्रह रोटी की देखता तो वो उदाहरण भी बड़ा अच्छा रखते हो है तो उसमें ऋषि ने कहा आत्मा मन के साथ मन कान के साथ और कन शब्द कान शब्दार्थ मन के साथ जुड़ा रहना चाहिए ये सुनने की स्थिति है एक व्यक्ति आए हरियाणा वो बड़े श्रद्धालु इतनी जिज्ञासा उसके मन में और उसने सुना और सुनते सुनते वो बेचारा विचित्र अवस्था में चला गया क्या बात बात क्या है जो आपने बताया था मुझे ऐसा ही दिख रहा है <laughs> मैंने कहा मैं क्या बताया था आपने जो पढ़ने की अवस्था का वर्णन किया था मुझे वैसा ही दिख रहा है वो खड़ा खड़ा है नहीं देख रहा ऐसा क्यों हुआ सुन बड़ी श्रद्धा से सुना था बड़ी रुचि और प्रेम से सुना और कहने लगे वो स्थिति ऐसी विचित्र थी फिर एक दिन में या मैं गया उस और वो फिर आते चली गई वो अवस्था ऐसी अवस्था आती है विचित्र ये जो आपको बताया जाता ना प्रलयवत अवस्था होती है समाधि लगती है ये इतनी विचित्र होती है कि संसार में तो कभी देखने को मिली नहीं बड़ी अद्भुत होती है व्यक्ति सब कुछ को भी भूल जाता है तो उस व्यक्ति ने बड़ा ध्यान से सुना और ध्यान से सुना तो उसके फिर ऐसा भाव उभर गया कि बिल्कुल वैसी स्थिति पैदा हो गई अब मैं बोलता जाऊं और समाधि की बात कहता जाऊं आप बिल्कुल श्रद्धा प्रेम से सुनते जाओ बिल्कुल रुचि से आप झटाझट आगे से आगे आगे से आगे पहुंच जाओ पर घर वाले जो मुझे उड़ाना देंगे हमारा बेटा हमारा पिता बिगाड़ दिया तो मुझे उड़ाना नहीं देना पड़ा <laughs> वो पर मिलेगा उसके दिमाग में वो तो बस समाज ध्यान में रहेगा और लोग कहेंगे इसको तो पागल हो चुका है इसको पकड़ के ले जाओ मुझे भी पकड़ के लेके गए डॉक्टर के पास <laughs> रो तक में दिखाया मुझे डॉक्टर ने कहा इसका दिमाग कमजोर हो गया <laughs> मैं अपने आंख मत किए हुए तो बड़ी श्रद्धा से सुनना होता है ये आपको मैं सुना रहा हूं एक विद्या प्राप्ति की परंपरा ये अलग विषय है थोड़ा सा उसको रोचक बना दिया जाता नींद उतर जाए दिन भर आपको ऐसे घुटा घुटा के घुटा घुटा के घुटा घुटा के दस भर रखे आपको एक जगह तो बनानी पड़ेगी मैं मैं यदि वही ऊपर डाली जगह उल्टी करते रहो तो मुझको ठोक ठोक के अंदर नहीं बढ़ेगा अंदर जा ही गई इसको ठोक ठोक के हंसने हंसाने से पच जाए थोड़ी सी और मैं वो पकड़ ले जिसे पढ़ाने वाले का कहला हुआ वह जब क्या जी ने पढ़ाया कुछ नहीं इसलिए इसको रोचक बनाया जाता है और आप याद रखना आप मैं जैसे बोल रहा ऐसे बोलना शुरू मत कर देना नए साधकों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए है आपको गंभीरता से बोलना बहुत गंभीरता से नंबरता से तो ऋषियों ने कहा कि पहले श्रवण है बड़ी सावधानी से पकड़ो टेप पर काट दी जाए फिर वो मनन है अथवा पाठ के रूप में जब आता है तो उसको दोहराते हैं बड़े ध्यान से और यदि दो तीन दिन दो तीन दिन बैठ के दोहराए तो बड़ा पक्का होता है कभी देख लेना पढ़े हुए पाठ को दो तीन व्यक्ति बैठ के दोहराते हैं मिलकर के तो वो बहुत अधिक आता है परिपक्व होता जाता है और उसके पश्चात फिर आता है एक और तो निधि ध्यान है बड़े सुने हुए को मनन किए हुए को ध्यान अवस्थित होकर के अंतिम रूप देना जो मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है मनन किया वो शत प्रतिशत ठीक बिल्कुल ठीक ये निधि व्यासन कहलाता है निधि व्यासन करते ही आचरण करना निर्णय करके प्रयास करना और प्रयास करने के पीछे उस चीज को पा लेना ये पालेना जो है साक्षात्कार है किसी ने कहा हम गेहूं पैदा करना चाहते हैं उनका कि लहर तो नहीं है उनका मैं उपाय बताता हूं यहां भूमि में पानी है और भूमि में कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदो उसको कुआं बोलते हैं उसको चिन्ह देना उसमें बिजली और मशीन लगा देना और उसमें फिर पानी निकालना फिर खेत में डालना और गेहूं मिल जाएंगे ये श्रवण है समझे वो सुन ली सारी बातें उसने खोदा कुआ हाँ जी और फिर उसने पानी निकाला फिर खेतों में पानी दिया और उसने गेहूं को प्राप्त कर लिया ऐसे ही किसी चीज को श्रवण मनन निधि साक्षात्कार तक पहुंचाता है वही व्यक्ति विद्वान होता है दूसरा व्यक्ति विद्वान नहीं होता कभी आपको सुनाया गया मन एक जड़ पदार्थ है आपने सुन लिया पर न मनन किया न निश्चय किया और न उसका साक्षात्कार किया कि मैं मन को चला रहा हूं और मैं अब नहीं चला रहा हूं ये साक्षात्कार भी नहीं हुआ तो विद्या नहीं आई समझ लेना अब चलिए यही विधि योग दर्शन पढ़ते हैं आप गुरुमुख से जो पाठ पढ़ते हैं वो आगमकाल कहलाता है आगमकाल फिर एक एक सूत्र को दोहराते हैं फिर जो शंका रहती है उसको पूछ लेते हैं ये स्वाध्याय काल कहलाता है फिर प्रेम प्रीति से दूसरे को पढ़ाते हैं ये प्रवचन काल कहलाता है और सुने सुनाए में से जो सत्य है उसको आचरण में लाना और असत्य को छोड़ देना ये व्यवहार काल कहलाता है और इस व्यवहार काल तक पहुंचे बिना कोई विद्या व्यक्ति के सामने नहीं आती कभी विद्या का स्वरूप नहीं आता सामने समय देर हो जाती है इसलिए यही विराम देता हूं आपको बहुत कष्ट होता होगा और अब मैंने थोड़ा सा बताया ये प्रक्रिया है किसी भी विद्या को अंतिम रूप में ले जाने की ओम शांति